अब आप मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दीजिए और मुझे और मेरे मोमिन साथियों को बचा लीजिए